आरंभ हो रही है एकादशमिंद्रियम आह उभयात्मकम एकादशम इंद्रियम एकादश माने ग्यारहवीं इंद्री जो मन है उसके विषय में ईश्वर कृष्ण लिख रहे हैं उभयात्मक मत्र मन संकल्प इंद्रियं च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषान नानात्वम वायभेदाश्च उन्होंने कहा उभयात्मकम अत्र मन मन जो इंद्रियों में जो मन है मन अत्र जो दस ग्यारह इंद्रिय हैं उन ग्यारह इंद्रियों में जो मन नाम का जो इंद्रिय है ग्यारहवा इंद्री वो क्या है तो उसके लोग कहने जा रहे हैं अत्र माने एक तेसु इन जो एक ग्यारह इंद्री उन इंद्रियों में जो एक मन नाम का इंदुआ है उभयात्मक उभयात्मकम मान उसमें क्या क्या उभयात्मक है इंद्रिय में उभयात्मकम संकल्प इंद्रियंच साधर्म्यात क्यों वह उभयात्मक है संकल्पकम मन ये करूं ये न करूं इस प्रकार का जो संकल्प है और क्या इंद्र उसमें क्या संकल्प और इंद्री का साधर्म है अर्थात वह उभयात्मक भी है तो कैसे तो बताने जा रहे हैं अर्थात बुद्धिंद्री भी है वो कर्मेंद्री भी है दोनों है उभय माने बुद्धिन्द्रिय विचार भी करता है और कार्य भी करता है इसलिए उभयात्मक है वही का उभयात्मकम अत्र मना इंद्रियम कुता संकल्पकम च साधर्म्यात मान संकल्प विकल्प रूपी साधर्म होने से गुण परिणाम विशेषात नानात्म बाह्य भेदाश्च ये जितने बाह्य भेद हैं रूप रस गंध इत्यादि जो भेद हैं वह गुण के परिणाम के विशेष के होने के कारण नानात्मा ने अनेक क्या है हमारे बाह्य भेदा बाह्य भेद कितने हैं अनेक हैं कैसे हैं तो आराम से एक एक करके वो लिखने वाले हैं कि संकल्प रूपेण और मन का व्यापार है लक्षित करें वह क्या है उभयात्मक है अब लिख रहे हैं तत्व तत्व कौमधिकार संघ तत्व कौमधिकार एकादशसु इंद्रिय मध्य माने जो ग्यारह इंद्री हैं उन ग्यारह इंद्रियों के मध्य में जो मन उभयात्मकम मन उभयात्मक मतलब बुद्धि इंद्रियम कर्म इंद्रिय चा वो बुद्धि इंद्री भी है और कर्म इंद्री भी है कैसे है तो बताने क्यों चक्षुरादी नाम आदि नाम च मनोधिष्ठिता स्वासा विषय प्रवृत्ते है वह ज्ञान इंद्री का भी अधिष्ठाता है रोक करने वाला है और बाघ इंद्री बाघ माने कर्म इंद्रियों का भी अधिष्ठाता है और चक्ष चक्षु माने ज्ञान इंद्रिया वही कहने जा रहे हैं क्योंकि जब यदि वह ज्ञान इंद्री का अधिष्ठाता न होता तो कहते अन्यत्र मना अभूमम ना दर्शम लोग कहते हैं कि हमारा मन और जगह तो हम देख नहीं पर वो आदमी गया तो पता नहीं चल पा रहा है इससे पता चलता है कि यहाँ पर बिना मनोव्यापार के इंद्रिय अपने व्यापार करने में समर्थ नहीं है इसका मतलब है यह दोनों इंद्रियों को यही जब व्यापार करता है तभी इन इंद्रियों में क्या होता है व्यापार होता है जब मन जिस इंद्री से संयुक्त होता है वही इंद्री कार्य करती है चक्षुरादीनाम नाम च नाम मन ये मन से नियंत्रित है स्व स्व विषय प्रवृत्ति अपने अपने विषय में मन से नियंत्रित होकर के इंद्रिया प्रवृत्त होती हैं क्या होती हैं इंद्री प्रवृत्त होती हैं क्या मन का है क्या इसे हम लोगों ने सामान लक्षण किया रूपक ग्राहकत्व इंद्र से लक्षणम गंधक ग्राहकत्व इंद्र से लक्षणम तो स्पर्शग्राहकत्व इंद्रिय से लक्षण और <clears throat> रसग्राहकत्व रसना रसनाया लक्षण उसी प्रकार शब्द ग्राहकत्व श्रोतेन्द्रिय से मनो इंद्रिय का लक्षण क्या संकल्पकत्व मनो इंद्रिय से लक्षणम मनोरिंद्री का जो लक्षण है वह क्या संकल्पवत्व है इसीलिए तद असाधारण रूपेण लक्ष्य मन जो संकल्पकत्व धर्म किसका है वो मन का है जो लक्षण वही से लेकर संकल्पात्मक संकल्पात्मकम मन कहा जाता है उसी पर लिखने जा रहे हैं कि उन इंद्रियों से इस इंद्री में भेद है यद्यपि वह दोनों जो मन है वह सात्विक अहंकार का कार्य है ज्ञान कर्म उभय का कारण है इसलिए उभयात्मक आपने कहा क्या कह दिया कि यह हमारा इंद्री क्या है मन क्या है क्योंकि यह जो मन सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय उत्पन्न हुई ज्ञान और कर्म उभय का एक करण मन साधन है इसलिए उभयात्मक माना और उसका लक्षण क्या बना संकल्पकम बना है मन का लक्षण है संकल्प रूपेण व्यापारेण मन अन अन्य इंद्रियों से भिन्न है अब उसमें इति संकल्प रूपेण मनोलक्ष्यते संकल्प है लक्षण मन है लक्षण जैसे गंधवती पृथ्वी कहने पर गंधवत ये लक्षण है और पृथ्वी क्या है लक्ष्य है उसी प्रकार ये कहने चाह रहे हैं कि यहाँ संकल्पात्मक जो मन है और संकल्प रूपी व्यापार के द्वारा मन को लक्षित माने अलग किया जा रहा है कैसे तो आलोचितम इंद्रियण वस्तु इदम इति सम्मुग्धम इदमेव नैवम् इति विशेष विशेषणविशेषभावेन विवेचयती यावत पहले क्या किया जो आलोचितम माने दृष्टम के न चक्षुषा पहले हम क्या करते हैं चक्षुरिंद्री के द्वारा वस्तु को आलोचितम देखते हैं और क्या कहते हैं वस्तु इदम इति सम्मुग्धम आलोचितम इंद्रियण मन चक्षुरादि व्यापार के द्वारा उसका क्या कहा गोचरी कृतम मान उसका आलोचना करते इदम किंचित वस्तु यह कुछ है इति सम्मुग्धम उसको निश्चय नहीं कर पा रहा है विचार करने समग्र है कुछ ऐसा वो क्या करता है सम्मुग्ध हो गया क्या होगा इदम इसलिए उसका आकार दे रहे हैं वस्तु इदम इति मन इंद्रिय व्यापार के द्वारा इदम वस्तु किंचित अस्ति कुछ है इस प्रकार का उसके मन में आया परंतु पूर्ण रूप से उसका ज्ञान नहीं हुआ वही का इदम वस्तु अस्ति ऐसा अपना मन, मन क्या करता इदमेव यही है अथवा यह नहीं है इस प्रकार का जब विकल्प होता उसी का नाम है मन का वो लक्षण है वही लिख रहे हैं इदमेव नैवम मन यही है इस प्रकार नहीं है इस प्रकार का जो उसमें प्रयोग होता है कि एतादृक रूपेण युक्तम एतादृक रूप से युक्त नहीं है इस प्रकार की जो कल्पना करना वह विशेष विशेषण भाव माने विशेष इसे घट को देखा तो घट हो गया विशेष विशेषण हो गया घटत्व एवं विशेष विशेषण भाव माने घट और घटत्व के बीच में घटत्व है विशेषण घट है विशेष इनका जो विवेचन करने वाला है और संकल्प विवेच पहले कहता यह है कि यह नहीं है इस विवेचन के बाद में वह संकल्प वह लिखने जा रहे हैं कि इदमेव सम्मुग्धम या या सम्यक मन अनुवृत्त व्यापार रूपेण अभिमुक्तम जो पीछे से चला आ रहा था घटत्वादि सामान्यम व्यावृत्त रूपम घटादि विशेषात्मकम व्यावृत्त का क्या है घटत्व जब आएगा तो घट को घटत्व पट से अलग करता है इसलिए व्यावृत्त माने होता है विशेष व्यावर्तक माने विशेषण इसलिए यही कहते हैं सम्मुग्धम मान सम्यक तया ज्ञातम कैसा कि घटत्व विशिष्ट जो घट है वो घटत्व है सामान्य अनुवृत्त रूप हुआ अव्यावृत्त हो गया घटादि विशेष तो सम्मुग्ध शब्द का अर्थ करते हैं कि अनवृत्त व्यावृत्त रूपेण अभिव्यक्तम भवती और क्या कहना इदम सम्मुग्धम इदमेव इद संकल्पयति विशेषण विशेष भावे न विवेचयती विशेषण कौन है घटत्व विशेष कौन है घट तो इसलिए वह अनुवृत्त हो गया सामान्य घटत्व और व्यापट से व्यावृत हो गया हमारा घट इस प्रकार का जो विवेचन करता उसका नाम है संकल्प और इस विवेचना करने वाले इंद्री का नाम है मन यदाहु किसी आचार ने मन का यह लक्षण किया है पहले यहाँ सामान्यतया पहले होता है एक निर्विकल्प ज्ञान जिसे कहते इदं किंचित अस्ति कुछ है इसीलिए उन्होंने क्या प्रयोग किया इदम वस्तु कुछ वस्तु है ऐसा इंद्री ने किया फिर मन कहता इदम अस्ति इदम नहीं वास्ति इस प्रकार का विचार कौन करता है मन करता है तो इदम किंचित वस्तु अस्ति इसको इस ज्ञान को नैयायिक लोग क्या कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान अर्थात जहाँ पर प्रकारता विशेषता का ज्ञान नहीं होता है उस ज्ञान का नाम है निर्विकल्प ज्ञान तो यह जो निर्विकल्प ज्ञान है उस निर्विकल्प ज्ञान का यहाँ भी कह रहे हैं निर्विकल्प पहले होगा फिर मन क्या करेगा सविकल्प ज्ञान करेगा तो प्रथम निर्विकल्प ज्ञान आलोचनात्मक होता है फिर मन के द्वारा सविकल्प ज्ञान होता है उसी को ये प्रमाण देने जा रहे हैं यदाहु पूर्व आचार्यों ने कहा है किम सम्मुग्धम वस्तु मात्रम ही प्रागृहणाति अविकल्पितम अविकल्पितम सम्मुग्धम वस्तु मात्रम प्राक ग्रहणंती इंद्रियाणी इंद्री क्या करती हैं पहले केवल विशेष विशेषण से शून्य वस्तु मात्र को कैसे वस्तु मात्र को अविकल्पितम निर्विकल्पक वस्तु को ग्रहण करती है कौन प्राग इंद्रियाणी ग्रहणंती तत् सामान्य विशेषाभ्याम कल्पयंती उसके बाद में जो मन रूप जो इंद्रिय है उसके द्वारा क्या होता है सामान्य विशेष के द्वारा मनीषणा किम कुरंती कल्पयंती फिर यह सामान्य है यह विशेष विचार के द्वारा मनीषी लोग क्या करते हैं संकल्पयंती मन उसका निर्णय करते हैं कल्पयंती मन विवेच अवगछंती विवेचना पूर्वक उसको जीवन में धारण करते यहाँ करता है मनीषिण मन सम्मुग्धम वस्तु मात्रम ही अविकल्पितम पराग मनीषणा गृहणती मनीषी लोग अपने इंद्रियों के द्वारा सर्वप्रथम निर्विकल्प ज्ञान करते हैं उसके बाद में तत्सामान्य विशेषाभ्याम संकल्पयंती विविच अवगछन्ति फिर यह जो मन मन ईषणा मनीष मनो व्यापारवंत जो मनीषी लोग हैं वो सामान्य का मतलब हुआ जो अनुवृत्त है और विशेष का मतलब होता है व्यावृत्त तो अनुवृत्त कौन धर्म है घट में घटत्व व्यावृत्त कौन है घट किस से पटादि से यही हो गया सामान्य विशेष के विवेचन करने के द्वारा वस्तु को क्या करते हैं समझते हैं यही उन्होंने प्रमाण दिया कि पहले निर्विकल्प ज्ञान इंद्री के द्वारा होता है फिर मन के द्वारा क्या होता है समविकल्प ज्ञान उसमें हेतु दे दिया सविकल्प ज्ञान में विशेष विशेषण सामान्य विशेषाभ्याम कल्पयंती मनीषिण तथा ही अक्रम लिखने जा रहे हैं किम अस्थि आलोचनम ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम या मीमांसा का श्लोक कौमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक में वो लिख रहे हैं सर्वप्रथम क्या अस्त ही आलोचनम ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम निर्विकल्पकम प्रथमम ज्ञानम आलोचनम ही अस्ति आलोचनात्मक पहले कौन सा ज्ञान होता है निर्विकल्पक होता है कौन सा निर्विकल्पक जिसके सामान्यतया नैया कहते हैं प्रकारता विशेष शून्य ज्ञान निर्विकल्पकम जहाँ कोई विशेष विशेषण का भाव का अवगाहन ना हो उस ज्ञान का नाम है निर्विकल्पक ज्ञान बाल मूकादि विज्ञान सदम शुद्ध वस्तुजम जिसे बाल है वो देखता है समझता नहीं ये क्या चीज है लड़का क्या है उसको मालूम नहीं उसी प्रकार पहले पहले जब देखता आदमी तो कौन वस्तु है ज्ञान नहीं होता है बस इतना जानता कुछ है क्या है ये ज्ञान नहीं है उसी प्रकार उन्होंने दो दृष्टान दे बाल फिर मुख मुख आदमी अपना बोल नहीं सकता है गुंगा क्या करेगा दिख रहा है ये क्या है बता नहीं सकता है यही है निर्विकल्प की स्थिति कि मुख की तरह वो है बस तो कुछ क्या है ये पता नहीं चल रहा है जरूर कोई यहाँ पर कौन है पता नहीं है इसे दो दृष्टान दे रहे हैं बाल मुकाद विज्ञान सदृशम इसे बालक का जो ज्ञान है मुख का जो ज्ञान उसके समान शुद्ध वस्तुजम मान एकदम वह शुद्ध वस्तु से जायमान निर्विकल्प ज्ञान है इस हाँ? आप वाले क्या लिखे मुग्ध वस्तु हाँ दोनों पाठ दे रहा है नीचे दे रहे हैं मुग्ध वस्तु जम मानोपी न्याय रत्नाकार परित्यक्ता यह कोई न्याय रत्न का टीका है किसकी इसकी नहीं मतलब उस श्लोक वार्तिक उस पाठ में लिखा है शुद्ध वस्तुजम और ऐसे पाठ क्या मिलता है मुग्ध वस्तु जम तो ये कहने जा रहा है जहाँ सामान्य विवेचन रूप जो प्रत्यक्ष है उसी पर मान शुद्ध वस्तुजम माने जहाँ पर सामान्य का भी ज्ञान नहीं हो रहा है विशेष का भी ज्ञान नहीं हो जहाँ सामान्य विशेष का ज्ञान हो जाएगा वह शुद्ध नहीं और विशिष्ट वस्तु कहलाएगी क्या हो जाएगा अभी वस्तु विशिष्ट वस्तु कहलाएगी इसलिए उन्होंने लिख दिया कि शुद्ध वस्तुजम इसलिए नीचे उसका वर्णन करते हैं ना सामान्य गोचरम आलोचनम सामान्य विशेष कल्पनाहीनम ज्ञान मात्र होने का नाम है शुद्ध वस्तुजम ज्ञानम केवल ज्ञान है ये क्या है ये भी पता नहीं है यदि घट कह दिया तो ये विशिष्ट ज्ञान हो गया पट कह दिया तो विशिष्ट ज्ञान होगा वहां ज्ञान तो है परंतु वह न विशेष का ज्ञान हो रहा न सामान्य इसलिए हो गया शुद्ध वस्तु जम और मुग्ध मुग्धजम का तरफ मुग्धजम मुग्ध यहाँ लिखा है मुग्ध वस्तुजम जहाँ ये पता ही नहीं चल रहा है कि विशेष क्या है सामान्य क्या इस प्रकार का मोह हो गया ऐसे वस्तु से जायमान क्या हुआ मुग्ध वस्तुजम वही कर ततः पर उसके बाद क्या परम पुनर्वस्तु धर्म ही जात्यादिर उसके बाद में उस वस्तु का घटत पटत्व आदि धर्मों के द्वारा बाद में ज्ञान होता धर्म ही कौन सा धर्म जाति एक धर्म होता है गुण और चार प्रकार के प्रवृत्ति निमित्त होते हैं चतुष्टयी शब्दा नाम प्रवृत्ति निमित्तम प्रवृत्ति मन होता व्यवहार निमित्त माने कारण घट को हम घट क्यों कहते हैं उसमें कौन धर्म है घटत्व पट को पट क्यों कहते हैं उसमें धर्म है पटत्व मठ को मठ क्यों कहते हैं उसमें धर्म है मठत्व तो शब्दों के प्रवृत्ति के चार निमित्त होते हैं एक जाति होता है एक गुण होता है शुक्ल पट मन आश्रया पट तो यहाँ कौन प्रवृत्ति निमित्त है शुक्ल रूप गुण तो गुण लक्षण क्रिया पाचक माने पक पाक क्रियावान तो यहाँ प्रवृत्ति निमित्त क्या है पाक के कारण उसको कहते हैं पाचक पढ़ाने का उसे कहते हैं पाठक तो यह होता है क्रिया प्रवृत्त निमित्तक गुण प्रवृत्त निमित्तक जाति प्रवृत्त निमित्तक एक होता है यदृक्षा शब्द रख दिया शिव प्रसाद अपने माता पिता की इच्छा से वो घट रहा है कि नहीं घट रहा कोई मतलब नहीं है क्या हो गया नक ये भी एक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है वही यहाँ लिख रहे हैं तथा उसके जब निर्विकल्प ज्ञान हो जाता है उस निर्विकल्प ज्ञान के बाद में परमाने पश्चात क्या होता है जो नीलत्व है घटत्व है पटत्व है संबंध है यथा शब्द इन धर्मों के द्वारा किम गृहते वस्तु वह एकदम ग्रहण करता है यया यया माने बुद्धिया जिस बुद्धि के द्वारा पश्चात वह धर्मों के द्वारा उसको ग्रहण करता है वो लिखा है बुद्धिया अवसीयते सा ही प्रत्यक्ष सम्मता वह जो पश्चात उन घटत पटत्वाज धर्म के द्वारा बुद्धि के द्वारा निश्चित करता है वह ही सा सामान्य बुद्धि प्रत्यक्ष सम्मता उस बुद्धि का नाम क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या नाम है उसका प्रत्यक्ष हो जाता है सविकल्प ज्ञान कहलाएंगे अर्थात सर्वप्रथम केवल इंद्री से निर्विकल्प ज्ञान हुआ वह प्रत्यक्ष नहीं कह सकते केवल उतने को परंतु जब हम इंद्री के सहायता से जब मन करता है तब सविकल्प ज्ञान होता वही इनका क्या है प्रत्यक्ष है उन्होंने लगा दिया ना अंत में ये सविकल्प निर्विकल्प ज्ञान उसको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि जन्य ज्ञानम सविकल्प कहना चाह रहे सब इंद्री के द्वारा बाद में बुद्धि जब इंद्री से जो उत्पन्न ज्ञान हुआ हुआ निर्विकल्पक और बुद्धि और मन के द्वारा जब ज्ञान हुआ तो क्या हो गया सविकल्पक इसीलिए कह दिया निर्विकल्पकम ज्ञानम पहले उत्पन्न होता है फिर सविकल्पक ज्ञान होना उत्पन्न होता दोनों के अलग अलग है इसी को आप कह सकते हैं एक अनुव्यवसायक होता है एक व्यवसाय अयं घटा या ज्ञान क्या है व्यवसाय है घटम जाना जानामीति अनुव्यवसाय पहले होता है व्यवसायत्मक ज्ञान पश्चात होता है अनुव्यवसायत्मक ज्ञान अनुव्यवसाय वाले पश्चात ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान का क्या होता है प्रकाश होता है वही लिखने जा सोयम संकल्प लक्षणों व्यापारो मनसा समाना समान जातीयाभ्याम व्यवच्छिदन मनो मन संकल्प लक्षण जो व्यापार है यह लक्षण है लक्ष्य कौन है मन है क्या करते हुए समान हो गई अन्य इंद्रिया और असमान कौन हो गए जी तो समाना समान जाति भ्याम अन्य जातियों से व्यवच्छिदन इसके मैं पृथक भी नाना अन्य तरस्याम मन व्यवच्छेद करते हुए मनोलक्षयति का संकल्प लक्षणों व्यापार मन संकल्प लक्षण जो व्यापार है वह मन का लक्षण है वो क्या करता है कि इनको अलग कर देता है अतः सो अयम यह मनसा संकल्प लक्षणों व्यापारा समान जाति कौन हो गए बुद्धियांदी ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्री सब उसके बाद असमान जाति कौन हो गए हमारे जो दूसरे हो गए एक दूसरा अंताकरणत्व में समान कौन हो गया हमारा बुद्धि और अहंकार अंता इंद्रिय लेंगे तो तीन है मन बुद्धि इनके यहाँ तो अंतर इंद्रित्व में समान कौन हो गए बुद्धियादि असमान कौन हो गए चक्षुरादि उनसे अलग करते हुए किम मनो लक्ष्यति मन लक्षित माने प्रत्यायति बोधयती माने गंध पृथ्वी लक्षयति लक्षित माने बोधयति प्रत्यायति मन बोध कराती किसको देवदत्ता पृथ्वी लक्षयती तम अपरा प्रेरयती उसी प्रकार यहाँ कहना सियादे तक अतः मन का लक्षण क्या होगा संकल्प व्यापार मनसो लक्षणम संकल्प व्यापार यह किसका लक्षण है मन का लक्षण है अब दूसरी बात कहने जा रहे हैं सियादित आशंकायाम लिंग शायद ननु असाधारण व्यापार योगिनो यथा महदहंकारो न इंद्रियम एवं मनोपि असाधारण व्यापार योगी न इंद्रियम भवतुम अर्हति किसी ने कहा देखिए भाई आपने अहंकार को और बुद्धि को इंद्री नहीं माना क्योंकि इनके असाधारण व्यापार अलग अलग हैं बुद्धि किसको उत्पन्न करता है तो अहंकार को उत्पन्न करता है बुद्धिमान महातत्व और उनका असाधारण व्यापार दूसरा के अध्यवसाय का साधारण व्यापार है एक का साधारण व्यापार अभिमान अब है अभिमानो अहंकारा अध्यवसायो बुद्धि ही बुद्धि का लक्षण क्या है अध्यवसाय अहंकार का लक्षण क्या अभिमान तो वही कह रहे हैं कि असाधारण व्यापार योगिनो इनमें ये असाधारण व्यापार जो निश्चयात्मक व्यापार केवल बुद्धि में ही है अहम अत्र करो में खादाम इत्याकार जो अहंकार रूप जो व्यापार है वह अहंकार में है जैसे यह दोनों असाधारण व्यापार वाले होने के कारण बुद्धि और अहंकार को आपने इंद्री नहीं माना उसी प्रकार संकल्प रूप असाधारण व्यापार किसका है मन का तो उसको भी क्या नहीं मानना चाहिए इंद्री नहीं मानना चाहिए ये पूर्व पक्ष बना रहे हैं न इंद्रियम जैसे असाधारण व्यापार योगिनु यथा महद अहंकारो न इंद्रियम महद अहंकार दोनों इंद्री नहीं है क्योंकि इन दोनों में असाधारण व्यापार जो इंद्रियत्व का व्याघात है नहीं हो रहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी कहना चाह रहा है इसको भी इंद्री नहीं मानना चाहिए इसको नहीं मानना चाहिए इंद्री को मन को एक एवं मनोपि असाधारण व्यापार योगी जैसे यह दोनों असाधारण व्यापार के योगी है मन भी में क्या है असाधारण जो व्यापार संकल्प केवल मन का असाधारण धर्म है एतावदा असाधारण व्यापार का संबंध होने के कारण मनोपि न इंद्रियम भवितुम है किसी ने पूर्व पक्ष किया मन भी इंद्री नहीं हो सकता है क्योंकि असाधारण व्यापार वाला होने से जो साधारण व्यापार वाला होता हुआ इंद्रिय होता है ये दोनों क्या है असाधारण व्यापार वाला है उस पर उन्हें इत्यता इंद्रियंचा का इंद्रिय है किसी ने कैसी इंद्रिय है होता है इंद्रिय साधर्म्यात क्या साधर्म है तो गिना इंद्रियांतर ही सात्विक अहंकारोपादान सात्विक अहंकारोपादान कस्य लक्षणम इंद्रिय से कलाया था जो सात्विक अहंकार उपादान कारण जिनका है उनका नाम इंद्रिय है तो सात्विक सात्विक अहंकार उपादान तो जैसे चक्षु में है उसी प्रकार मन में भी है यही हो गया साधर्म चक्षु में कौन सा है दसो इंद्रियों में एक साधारण धर्म कौन है सात्विक अहंकारोपादान तत्व तो जैसे सात्विक अहंकार उपादान हमारा किनका है चक्षु का है त्वग का है और क्या चक्षु है त्वग है सोत्र है घ्राण है रसना है उसी पर वाक पाण पाय पशु उपस्थ का है उसी प्रकार मन भी किससे उत्पन्न हुआ सात्विक अहंकार उपादान यही हो गया साधर्म दोनों में समान धर्म वाला है वही कैसा धर्म्यम न तो इंद्री इंद्रलिंगत्व क्योंकि वह सूत्रता इंद्र मिंद्र जुष्ट इंद्र दृष्ट सृष्ट बताया जाना तो यहाँ इंद्री से कई चीजें होंगे इंद्र न दृष्टम इंद्र न जुष्टम वही कहने जा रहा ना तो इंद्र लिंगत्वम इंद्र लिंगत्व यहाँ साधर्म नहीं लेना है जैसे उन्होंने कहा था यहाँ इंद्री पद का चक्षुरादि में जो प्रवृत्त निमित्त है वह रूढ़ी वाला लेना इंद्र लिंगत्व इसे एक प्रयोग गच्छती गऊ ये वित्पत्ति करो तो जो चले गए सब गाय हो गए ये भी गाय हम भी गाय आप भी गाय परंतु उसका गाय का लक्षण क्या किया था इसीलिए शासनादिमत्व घोर लक्षणम क्योंकि गच्छती थी गौ करेंगे तो वह गो तो ऐसा धर्म जो गच्छती गो वाला वो गो तो संपूर्ण जितने जंगम प्राणी है सब क्या कहलाएंगे गो कहलाएंगे गच्छतीत गौ इस नियम के द्वारा उसी प्रकार कहते यदि इंद्र मन इंद्रलिंग इंद्र का लिंग वित्पत्ति या वित्पत्ति करोगे वह अति प्रसक्त हो जाएगा इसलिए यहाँ इंद्रिय शब्द इंद्रेण लिंगितम इति इंद्र इंद्रियम यह वित्पत्ति नहीं करेंगे अभी तो इंद्रेण जुष्टम पीछे आया था वही लेंगे न तो इंद्रिय लिंगत्व कथम महद महदहंकार आत्मलिंग इंद्र माने आत्मा मार्थ है इंद्र माने आत्मा जैसे हमारा इंद्री किसके हैं आत्मा के बोधक हैं उसी पर महाद और अहंकार भी क्या है अपने स्वरूप का बोधक होने से वो भी इंद्रलिंग हो गया तो ऐसा यदि कहो तो इंद्रियत्व लक्षण कहाँ चला गया माद में भी अहंकार में अलक्ष्य लक्षणम गमनम अतिव्याप्ति तो इंद्र शब्द की जो वित्पत्ति है इंद्र इंद्र जुष्ट श्रेष्ठ मृष्ट ऐसा करके जो सूत्र है उस सूत्र के आया तद्धित में सूत्र किसने व्याकरण में आता है तद्धित में आता है इंद्रियम इंद्र लिंगम इंद्र दृष्टम इंद्र श्रेष्ठम इंद्र जुष्टम और इंद्र दत्तम इतने अर्थ में इंद्रिय इंद्रेण दत्तम इति इंद्रियम इंद्रेण जुष्टम इति इंद्रियम इंद्रेण श्रेष्ठम इति इंद्रियम और इंद्रेण दत्तम इति इंद्रियम ऐसा इतने अर्थ परंतु यहाँ क्या लेना है आ, यहाँ इंद्र शब्द से रूढ़ी वाला इंद्री लेना है वह इंद्रेण लिंगितम कहोगे जो अपने आत्मा को चिन्ह हो वह इंद्र यदि कहोगे तब क्या हो जाएगा अति व्याप्ति होने जा रही है सभी अपने अपने के बोधक हैं इसलिए कहाँ चला जाएगा बुद्धि और अहंकार में भी वही उन्होंने कहा न तो इंद्रलिंगत्व कुतः इंद्रलिंगत्व जितना धर्म है वो तो सब इनमें तो है ही है इंद्रलिंगत्व अपने अपने के बोधक सभी हैं मन बुद्धि वो क्या नाम है पांच ज्ञान इंद्री पांच कर्म इंद्री और मन परंतु इससे अतिरिक्त कौन हो गए अहंकार भी अपने का बोधक है और बुद्धि भी तो अतिव्याप्ति हो जाएगी का महद आत्मलिंग आत्मलिंगत्व प्रसंगात तस्मात इंद्रिय के लक्षण यहाँ क्या बनाया सात्विक अहंकारोपादानकत्व इंद्रियव सात्विक अहंकारोपादानकत्व अहंकार में भी नहीं है बुद्धि में भी नहीं है सात्विक उपादान केवल ग्यारह में है अतः तत् तस्मात वित्पत्ति मात्र इंद्रलिंगत्व नत प्रवृत्ति निमित्तम जो हम वित्पत्ति मात इंद्रेण लिंगितम इंद्रलिंगम अर्थात इंद्रियम जो केवल वित्पत्ति है या जैसे गच्छतीत गौ केवल वित्पत्ति है ये गो का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है गो का प्रवृत्ति निमित्त क्या है कहना चाह शासनादि मत्व उसी प्रकार यहाँ केवल इंद्रेण लिंगितम इंद्रेण लिंगितम मन इंद्रियम जो, जो वित्पत्ति है वो चक्षुरादि के केवल नाम मात्र है उसका लक्षण क्या है तो सात्विक अहंकार उपादान तत्वम जैसे गो का लक्षण क्या है सासनादिमत्व वही कहने जा रहा महद अहंकारोपी आत्मलिंग इंद्रत्व प्रसंग तस्मात वित्पत्ति मात्रम इंद्रलिंगत्व इंद्री शब्द का अर्थ हुआ इंद्रलिंगत्व न तो प्रवृत्त निमित्तम प्रवृत्ति निमित्त उसका क्या हो जाएगा अति प्रसक्त हो जाएगा अथा कथम सात्विक अहंकाराद एकादश इंद्रियाणी किसी ने कहा सात्विक अहंकार से ग्यारह इंद्री क्यों पैदा हुई और दूसरे क्यों नहीं पैदा हुए उनमें एकादश इंद्री पैदा हुई तो उनमें भेद कैसे आया आपस में एक ही आदमी से पैदा होने वाली कौन है ग्यारह इंद्री उसमें कोई रूपक ग्राहक है कोई रसक मात्र ग्राहक है कोई क्या है स्पर्शक ग्राहक है कोई किसको ग्राहक है कोई शब्द ग्राहक तो ऐसे इसमें जो चार इंद्री दो इंद्री हैं कौन सी हमारा एक चक्षुर इंद्री और एक तब इंद्री एक ग्रहण करती है रूप रूप आश्रय को स्पर्श स्पर्श आश्रय को इसलिए कहा दो इंद्री गुण द्रव्य उभय का द्रव्य को भी ग्रहण करती है और गुण को और अन्य इंद्रियां क्या करती है गुण को ग्रहण करती है शब्द को ग्रहण करेगा शब्दत्व को ग्रहण करेगा शब्दाभाव ग्रहण करेगा शब्दत्वाभाव का कौन इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय जिन्हें वेन इंद्रियण जो गुणो गृहते तन्निष्ठा जाति तदभाव नैव इंद्रियण गृहते इसलिए ये इनको कहा था गुणग्राही का मतलब गुण गुणाभाव गुण में रहने वाली जाति की ग्राह और ये हमारा जो चक्षुरेन्द्रिय है और ये इंद्रिय है क्या कहती द्रव्य गुण दोनों को ग्रहण करती है क्या करती है दोनों को ग्रहण करती है वही आ कहने का अथ एव एकादश इंद्रिया एक ही सात्विक अहंकार है और उससे कैसे एकादश इंद्रिय हो गई इत्यत आह गुण परिणाम विशेषात नानात्म वाय भेदाच गुण की परिणाम के भेद से माने यहाँ गुण परिणाम शब्द से अदृष्ट लेना है माने अदृष्ट के भेद से वह एक ही अहंकार से उत्पन्न होने वाली ग्यारह इंद्रिय उनके स्वभाव भिन्न भिन्न है जैसे एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए बच्चों में सबके स्वभाव भिन्न भिन्न है तो क्यों भिन्न भिन्न है क्योंकि उन सबका अपना अपना पाप पूर्ण भिन्न भिन्न था इसलिए उनमें भेद का जो तक माता पिता नहीं है पर कौन है उनका अदृष्ट है उसी प्रकार इन इंद्रियां एकादश जो इंद्रिय उत्पन्न हुई है वह एकादश इंद्रियों में एक ही सात्विक अहंकार से उत्पन्न होने वाली एकादश इंद्री कोई केवल रूप मात्र का ग्राहक है कोई रस मात्र का ग्राहक है कोई तो स्पर्श का ग्राहक है कोई उभय का ग्राहक है यह भेद कैसे होगा इस पर उन्होंने लिखा गुण परिणाम विशेषात लिखते हैं आचार टीकाकार गुण परिणाम शब्द अदृष्ट अदृष्टमेव गृहते एक सूत्र है अदृष्ट भेदोपी गुण परिणाम एव अदृष्ट का भेद यहाँ क्या है गुण परिणाम गुण से यद्यपि सत्व रजतम प्रसिद्ध है परंतु तो यहाँ गुण से क्या लेना है हमारा अदृष्ट उस अदृष्ट के भेद से इंद्रियों के व्यापार में क्या हो गया भेद हो गया गुण परिणाम विशेषात किमती नानात्वम चक्षुरेन्द्री श्रोत्रेन्द्री घ्राणेन्द्री रसनेन्द्री श्रोत्रेन्द्री वागेन्द्री पाणेन्द्री पादेन्द्री पायु उपस्त मन ये नाना उसके भेद हो गए क्या हो गए अदृश्य के कारण नानात्म वाय भेदाशाय बाहर के सब भेद है अदृष्टा वो लेकर अदृष्ट भेदोपी गुण परिणाम इति शब्दाज उपभोग प्रवर्तक अदृष्ट सहकारी भेदात माने क्योंकि अदृष्ट ही सबका भोग पैदा करता है इसे न्याय वाला कहता है कि इसे यहाँ बैठे हो तो यदि सुगंध आई तो कैसे आ गई इंद्री तो गई नहीं वहां तक तो कहा कि अदृष्ट के कारण वह सुगंध यहाँ आपको दिखाई देती है क्या देती है क्योंकि घ्राण इंद्री जाती नहीं है फिर वहां से गंध उस पुष्प में है वायु में गंध हो नहीं सकता नैयाय कहता है क्योंकि वायु का गंध गुण नहीं है इसलिए गंधवती पृथ्वी है फिर भी गंध के माध्यम से हमको सुगंध जो दुर्गंध नासिका ग्रहण कर ये वायु के अंदर तो वायु में तो है नहीं फिर कैसे ग्रहण की तो कहा कि अदृष्ट के वसात किसी ने कहा वहीं से आ गया तो कहे वहां से तो पुष्प से पूरी गंदी उड़ गई द्वारा पुष्प को सुगंधी नहीं रहना चाहिए तो वहां लिखते हैं कि अदृष्ट वसात व सुगंध उसको मिल जाती है उसी प्रकार उन्होंने लिख दिया शब्द आदि उपभोग प्रवर्तक मन शब्द उपभोग मन शब्द का साक्षात्कार करना रस का साक्षात्कार करना और रस का हुआ स्पर्श का हुआ रूप का हुआ इनका जो साक्षात्कार हुआ उसका नाम होगा उपभोग आज उपभोग प्रवर्तक कौन है ये सबका कारण मूल कौन है अदृष्ट अदृष्ट सहकारी भेदात इन उत्पत्ति में अदृष्ट सहकारी कारण है उसके भेद से कार्य में भी क्या हो गया भेद हो गया ये इंद्रियां अलग अलग ग्रहण करने लगी अदृष्ट भेदोपी मान अदृष्ट भेद से भी क्या होता गुण परिणाम एवं अदृष्ट का भेद होना यही गुण परिणाम है वाय से दृष्टांतार्थम यथा वाय भेदा जैसे वाय घटपटादि सब अदृष्ट के भेद से भिन्न भिन्न उसी प्रकार ये इंद्रियां भी अपने अदृष्ट रूपी के कारण क्या है सब भिन्न भिन्न एक से उत्पन्न होने पर यह उन्होंने कहा यह दृष्टान्त वाय भेदा यथा वाय भेदा अदृष्ट बसात तथैव इंद्रिया भेदा कुतः अदृष्ट सहकारी अहंकार से अनेक प्रकार की इंद्रियां भिन्न भिन्न उत्पन्न होती हैं क्या होती है हमारे यहाँ भिन्न भिन्न उत्पन्न होती हैं वही का इति वाय भेद दृष्टान्तर यथा वाय भेद तथा एक तदप जैसे बाय घटपटादि भेद है उसी प्रकार इन इंद्रियों का भी क्या है भेद है अब बताने जा रहे हैं अट्ठाईसवीं कारिका में कि इंद्री हैं अब उन इंद्रियों के व्यापारों का लक्षण करने जा रहे हैं इंद्रिय तो बता दी पांच ज्ञान इंद्रिय हो गई बुद्धि इंद्रियाणी चक्षु गिना दी और कर्म इंद्रिय भी गिना दी मन भी गिना दिया उनके भेद का कारण कौन था अदृष्ट था अदृष्ट साकारी भेद के कारण एक ही सात्विक अहंकार उपादानकत्व जो संपूर्ण इंद्रियां हैं सात्विक अहंकारोपादानकत्व इंद्रिय लक्षण लक्षणम क्या इंद्रिय का लक्षण है तर्क संग्रह में दीपिका शब्दे तरुद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्व सिद्धि ज्ञान कर्ण आत्मना संयोगाश्रयत्व इंद्रियम उसी प्रकार यहाँ कहो सात्विक अहंकारोपादान कारणकत्व उपादानकत्व इंद्रिय सामान्य लक्षण लक्षणम हर शास्त्र में अलग अलग इंद्रिय का लक्षण है अब यहाँ पर बताने तद एवं एकादशी इंद्रियाणी स्वरूपता उक्ता उनके नाम गिना दिए स्वरूप बता दिया परंतु वो क्या क्या काम करते हैं उसमें क्या है जो कार्य वही उनका क्या हो जाएगा व्यावर्तक हो जाएगा जो व्यापार बताया ना क्रिया माने सब चतुष्टयी शब्दान प्रवृत्ति बताए गुण प्रवृत्ति निमित्तक जाति प्रवृत्ति निमित्त क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक तो श्रोत इंद्री का क्या व्यापार है शब्द ग्राहकत्व यही उसका जो क्रिया वही भेदक हो जाएगा वही लक्षण कहने इति स्वरूपता उक्तवा दशा अपनी असाधारण वृत्ति ही असाधारणीर वृत्ति ही आहा असाधारणी असाधारण तीनों लिंग असाधारण असाधारणम असाधारणी कहा करो वृत्ति ही बोलो स्वरूपता उक्ता दशा दशा दशानमपि मन असाधारणी वृत्ति ही आह रूपादिषु रूपादिषु ही वचनादान विहरण उत्सर्गानंदाश पंचा ये कह रहे हैं कि रूप है रस है गंध है जितने विषय हैं मैंने रूपादिशु उजाले खाना सप्तमी मन सन्निहितेशु मन रूपादियों के जब सन्निधान होता है तो पांचों इंद्री क्या करती है अपना अलग अलग उनका व्यापार कोई रूप का ज्ञान कराती है कोई जब जीव से टकराएगा तो क्या जाएगा रस का ज्ञान कराएगी इसलिए कहा रूपादिशु सु ऊपर से जोड़िए सन्निहतेशु रूपादि रूप रसगंध इन विषयों के सन्निधान होने पर यद रूप विषय का आकार परिणाम जैसा हमारा इनके यहाँ मन के द्वारा क्या मन क्या होता है अंत चक्षुरादि के द्वारा कहा जाता है विषय देश में ईश्वरों ने कह दिया कि जैसे इसमें क्या होगा परिणमित तो होगा अतः अतः इनका पंचानाम ज्ञान इंद्रियाणाम वृत्ति माने व्यापार वृत्ति माने व्यापार जो धर्म उनका धर्म क्या है आलोचनम आलोचन माने ज्ञान करना आलोचन शब्द का अर्थ क्या है ज्ञान क्या अर्थ है ज्ञान सूत्र नालोचने हाँ अनालोचन तादृक एतादृक मान आलोचनम ज्ञानम अनालोचनम ज्ञान रहितम यादृक तादृक यही होता ना तादृश याद क्या वृत्ति है हम्म, वृत्ति क्या है ज्ञान इसलिए आलोचन का उस सूत्र से अनालोचन माने ज्ञान रहित आलोचन माने ज्ञान वही यहाँ कहने जा रहे हैं आलोचन माने ज्ञान मात्रम इष्यते वृत्ति ही व्यापारा धर्म इनका धर्म क्या है कि ज्ञान को बस पैदा करना ज्ञान कराने वाली कौन इंद्रियां हैं पांच चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना त्वगिंद्री अब आई पांच आगे वाली उनका क्या व्यापार है यह आलोचन आलोचन मात्रम वृत्ति से एक वचन किया सबका काम है ज्ञान कराना जिले वृत्ति कर दिया अब इनका पांचों का काम अलग अलग है तो यहाँ कहना है पंचानाम वृत्तय वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्तय मान इन पांचों का व्यापार क्या क्या है वचन व्यापार है बाघ इंद्री का कंठ तालवाद स्थान में रहने वाली जो इंद्री है उस इंद्री का नाम है बाघ इंद्री वह जो बाघ इंद्री का काम क्या है बोलना वचन का विसर्ग करना शब्द छोड़ना आदान किसका अर्थ है लेना आत प्राण इंद्री और दूसरा क्या है विहरण घूमना फिरना ये पैर का काम है उत्सर्ग मन मल त्याग किसा करना गुदा इंद्री का काम है और उपस्थ इंद्री का असाधारण धर्म है आनंद क्या धर्म है आनंद सुखानुभूति कराना यही पंचानाम कर्म इंद्रियाणाम पांच जो कर्म इंद्र उनके लक्षण हैं बुद्धि इंद्रियाणाम सम्मुग्ध वस्तु मात्र दर्शन वही केवल आलोचन ज्ञान मात्र वो ज्ञान मन क्या करेगा अलग भेद कराया गया केवल ज्ञान कराती हैं निर्विकल्पक ज्ञान कौन ज्ञान कराती हैं और सविकल्पक ज्ञान कौन कराता है इसीलिए उन्होंने कह दिया केवल ज्ञान है क्या है ये पता नहीं चल रहा घट है है कुछ उसके बाद घट है कौन बता निर्णय करेगा आगे इसलिए उन्होंने कह दिया आलोचन मात्रम सम्मुग्ध वस्तु मात्र दर्शन मतलब सम्मुग्ध माने पता नहीं जब विशेष विशेषण शून्य जो सम्मुग्ध वस्तु कहलाएगा उसका दर्शन कहना यही है आलोचन कह पहले कह कर आए हैं वचनादान विरहण उपसर्ग आनंदाश पंचानाम कर्म इंद्रियाणाम पांच जो कर्म इंद्रिय हैं उनके अलग अलग है वचन किसका है तो भाग इंद्री का आदान किसका है पाणी इंद्री का विहरण किसका है पाद इंद्री का इसकी पड़ोगे के सबके इंद्रियों के देवता भी अलग अलग है तो पाण इंद्री का उपस्थ है और और क्या है हमारा गुदा सबसे पहले एक इंद्री में सबको बहुत भ्रम होता है कि बाघ इंद्री क्या चीज है ये सबको बहुत भ्रम है और दिख रहा है हाथ भी दिख रहा है पैर भी दिख रहा है उपस्थ भी दिख रहा है तो टीक इंद्री भी दिख रही है परंतु एक ऐसा जो वाणी का पता नहीं चल रहा क्या स्वरूप है इसलिए वाचस्पति ने यहाँ लिखना है वाणी का क्या स्वरूप वाणी पाक इंद्री का स्वरूप यहाँ लिखा है कंड तालवादि स्थानम इंद्रियम बाक मैंने कंड तालवादि स्थान का नाम ही क्या हो गया स्थानम इंद्रियम बाक मैंने कंड तालवादी स्थान जिसका उस इंद्री का नाम कौन है वाक इंद्री अष्ट स्थानानि वर्णानाम उरह कंठा तथा जीवा मूलम कुछ नहीं दंताशा नासिका ताल तालुचा ये आठ स्थान है पढ़े तक तो लग कौंदी में अकू विसर्जनीया नाम कंठा वही तो ना इचुएसा नाम ताल पांच वो हो गए फिर जीवा मूलीय जीवा मूलम है ये सब अलग अलग करके कितने हो जाते हैं आठ कितने हो जाते नासिका अनुस्वार तो कितने हो जाते हैं आठ हो जाते हैं एक वहां उरह कह दिया नहीं गिनाया है सात तो वहां दिख रहे एक उरह भी होता है ऐसा कहते हैं इसलिए कंड तालवादि स्थानम इंद्रियम बाक तस्या वृत्ति वचनम बाक स्त्रीलिंग शब्द है लिखा तस्या वाचा वृत्ति ही वचनम मन वाणी का वृत्ति मन व्यापार क्या है वचन है बोलना ये किसका व्यापार है बाघ इंद्री का व्यापार है उसके बाद का है आदान हस्तयोर वृत्ति ही आदान लेना ये किसका व्यापार है हाथों का है विहरण माने गमन किसका व्यापार है पाद इंद्री का मल का शरीर से बाहर करना यह पायु इंद्री का है और आनंद मूत्र त्यागो रमणम चा उपस्थ वृत्ति ही ये किसका है उपस्थ का लक्षण है वही कह रहे हैं इस प्रकार से अट्ठाईसवीं कारिका हो गई अब आ रहे अंताकरण त्रयस्य वृत्तिम आहा अब बाह्य इंद्रियों को बता दिया सामान्य इंद्रिय का लक्षण हो गया सात्विक अहंकारोपादानकत्व इंद्रिय लक्षणम वह और एक एक इंद्री का असाधारण धर्म बता दिया पांच इंद्री का साधारण धर्म है आलोचन आलोचन माने ज्ञान मात्रम और कौन सा ज्ञान विशेष विशेषण शून्य जो ज्ञान वही निर्विकल्पक ज्ञान इंद्री से पैदा होता है कौन ज्ञान होता है इंद्री से निर्विकल्पक ज्ञान पैदा होता फिर मन तब जाए उन्होंने कहा सविकल्पक ज्ञान होता है अब बात उन्होंने सभी इंद्रियों के लक्षण और इंद्री के लक्षण इंद्र के क्या कार्य है सब बता दिया साधारण धर्मों को अब बताने जा रहे हैं कि अंताकरण होता है अंत माने होता है अंदर करण माने साधन अंदर जो हमारे यहाँ बैठा है शरीर के अंदर जो साजिद शरीर में सभी इंद्रियां बैठी हैं परंतु इसके बाय की अपेक्षा जो हृदय देश की अपेक्षा कह दिया गया अंदर जैसे यह हो गया एक अंदर इस अंदर के अंदर एक हो गई कौन अलवारी उसी प्रकार ये भी होने जा रहा है वही कहने जा रहे हैं अंताकरण त्रय स्थिति आहा उनका स्वालक्षण अपना अपना लक्षण बताएंगे स्वालक्षण से माने असाधारण धर्म लेना है स्वकीयानी स्वकीयान लक्षणानी इति स्वालक्षण यहाँ स्वालक्षण से क्या अपने अपने लक्षण अपने अन्य लक्षण माने अपना अपना असाधारण धर्म अंताकरण त्रय से वृत्तिम आहा स्वालक्षणीय उन्तीसवीं कारिका है सा लक्षणीयं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा वृत्ति प्राणाद्या वयवा पंच उन्होंने कह दिया ये किसका आया था पीछे आया था किसका स्वालक्षणीयम अपने अपने जो लक्षण तो आपको अध्यवसाय किसका लक्षण है बुद्धि का अभिमानो अहंकार से और संकल्पम संकल्पकम मन वही कहने स्वालक्षण्यम से सा ऐसा असामान्या भवती इनकी जो वृत्ति है क्या सबकी अपना अपना लक्षण रूप जो स्वालक्षण्यम स्वलक्षण से भाव स्वालक्षण्यम माने असाधारण धर्म वह साधारण धर्म क्या चीज है तो आगे लिखने जा रहे हैं भवती सईसा असामान्य भवती वृत्ति त्रयस ये तीनों में एक असाधारण वृत्ति है जैसे एकादश इंद्रियों में असाधारण वृत्ति कौन बताए है उनमें कौन धर्म है एकादश इंद्रियों में सात्विक उपादान तत्व यह ग्यारहों में है उसी प्रकार एक एक तीनों के लक्षण बता दिए मन का लक्षण क्या बता दिया संकल्पकम और अभिमानम अभिमान अहंकार से बुद्धिर अध्यवसाया पर इन तीनों में कौन ऐसी चीज है वो बताना चाह रहे हैं क्या बताने जा रहे हैं तीनों में कौन सा एक असाधारण धर्म है जो काम करता है इसलिए उन्होंने कहना पड़ना स्वालक्षणियम वृत्तिम वृत्तिस्त्रयस्य मैंने अपना अपना जो लक्षण रूप जो त्रयस्य तीन वृत्ति वही त्रयस्य सा ईसा मैंने तीन वृत्ति वाले त्रयस्य स्वालक्षणियम वृत्ति सा ऐसा असामान्य भवती जो अपने अपने सबकी वृत्तियों सब क्या हो जाती है असामान्य क्योंकि वह दूसरे से अलग कराते हैं और एक सामान्य वृत्ति भी एक हुआ असामान्य एक सामान्य जैसे ग्यारह इंद्रियों में क्या सामान्य हुआ सात्विक अहंकार उपादान कत्व और चक्षु का असामान्य धर्म क्या हुआ रूपक ग्राहकत्व रूप को ग्रहण कराना वही कहने साधारण वृत्ति ही मान इनके साधारण जो इन धर्म है तीनों में वह रहता है प्राणाद्या वैवाह पंच पांच है प्राण पान व्यान उदान समान वही पांच वृत्ति यह इनका क्या है सबका सामान्य वृत्ति प्राणादि रूप त्रयाण विकरण तीनों करणों का या सामान्य जो वायु तुल्य संचार वाले जो वायु हैं और जैसे वायु घूमता है उसी प्रकार शरीर में घूमती इसलिए इनका नाम भी क्या हो गया प्राणादि पंच वायवाह ये पांचों वायु वायु हैं इन अंताकरण के सामान्य धर्म हैं क्योंकि यदि प्राण न रहे राधे श्याम हो जाएगा चला जाएगा ऊपर इसका मतलब है प्राण के अधीन मन का भी है प्राण के अधीन बुद्धि विचार भी करते हैं और क्या करते हैं अहंकार उहिंकाय क्या को जीवन सहीसा जीवनम वही लिखने जा रहे स्वालक्षणीयम वृत्ति त्रय स्वम स्वम का अर्थ असाधारण धर्म स्वम माने स्वशब्द के चार आत्मा आत्मी ज्ञाति बांधव तो यहाँ स्वशब्द आत्मीय का वाचक है इस घट का आत्मी कौन है घटत्व स्वम रूपम शब्द शब्द संज्ञा स्वम रूपम रूप माने तदवृत्ति धर्म उसी प्रकार यहाँ स्व से क्या ले लिया आत्मीय घट का आत्मीय घटत्व जो उसको छोड़कर न भगे तो वही घट का मन स्व असाधारणम लक्षणम एसाम मैंने अपना असाधारण लक्षण ही है ज्ञापक जिनका जिनका किनका महद अहंकार मनसाम उनको कहलाएंगे स्वालक्षणानी तेसाम भावा लक्षण्यम वही यहाँ सब लिख रहे हैं व्याकरण की बात स्वम असाधारणम असाधारण क्या चीज है लक्षणम एसाम तानी स्वलक्षणानी महद अहंकार मनांसी महद है अहंकार है मन है परवल लिंग दोनों तत्पुरुष नपुंसक लिंग हो गया महद अहंकार मनांस तेसाम भावा स्वालक्षणियम तच्च स्वानी स्वानी लक्षणान्य अपने अपने सबके लक्षण है इस मद का लक्षण अध्यवसाय अहंकार का लक्षण अभिमान मन का लक्षण संकल्प लिख रहे हैं यदि ये स्वलक्षण वृत्ति है तीनों के मदो अध्यवसाय अहंकार से अभिमान संकल्पो मनस वृत्तिर व्यापार मन मन के सब व्यापार है संकल्प मन का व्यापार है महत का व्यवसाय व्यापार है और अभिमान किसका व्यापार है अहंकार का ये सबके अलग अलग व्यापार हैं और इन तीनों में रहने वाला जो साधारण धर्म है जिसको बोलते हैं जीवन प्राण ये सब क्या पर्यावा जीव प्राण ने प्राण धारणे कौन धातु से जीव बनता जीव प्राण धारणे जीव कहते हैं प्राण को धारण करने वाला इसलिए जीव और प्राण पर्यावाची हो जाता है अतः जीवन वृत्ति अंताकरण धर्म कौन कौन है बताने वृत्ति त्रैविध्यम साधारणा साधारणत्वाभ्याम जो जो वृत्ति है ना अब वह द्वैविध ला पहले वृत्ति सबकी एक एक अलग अलग थी असाधारण एक उनमें साधारण वृत्ति या एक असाधारण इसे हमारा चक्षु में एक साधारण धर्म है एक असाधारण इसे घट में साधारण धर्म भी है असाधारण हो गया घटत्व साधारण हो गया पृथ्वीत्व द्रव्यत्व पदार्थत्व सत्ता ये सब क्या हो गए हैं साधारण धर्म हो गए वही कहना वृत्ति वृत्ति वृत्ति के दो भेद बताते एक साधारण वृत्ति एक असाधारणत्वाभ्याम द्वंद्वादु द्वंद मध्य सूर्यमाणम पदम प्रत्येकम संबद्यते तो नियम हो गया साधारणत्व असाधारणत्वाभ्याम साधारणत्व असाधारणत्व के भेद से वृत्ति दो प्रकार की है सईसा भवती असामान्य मन असाधारणी एक वृत्ति क्या है असाधारणीय है सामान्य करण वृत्ति ही प्राणाद्या जो सामान्य करण वृत्ति है वह कौन हो गए प्राणादि पांच सामान्याचासु करण वृत्ति थी सामान्य करण वृत्ति उत्पत्ति कर रहे हैं सामान्या चासु करण वृत्ति यहाँ भी सामान्य शब्द लगाए तो यद्यंतम नपुंसकम समान से भाव सामान्यम तो क्या लिखना चाहिए इधर व्याकरण से सामान्यम लिखा गया सामान्य इसका मतलब सामान्य शब्द से एक वित्पत्ति और करेंगे सामान्यम अस अस्तीति सामान्य अर्थात दिव्य अच तब क्या बनेगा सामान्य ऐसे सीधे सीधे करो तो क्या बनेगा सामान्यम यदि पुल्लिंग लिखा है तो एक वित्पत्ति और कर दी तुरंत यहाँ लिखा है सामान्य टावंत में लगा के लिखे सामान्या चाशु कर्ण वृत्तिश्य सामान्य कर्ण वृत्ति ही पुंबद भाव हो जाएगा कर्म धारा में तो सामान्य कर्ण वृत्ति त्रयाणम अपनी कर्णानाम तीन अंताकरण कौन कौन मन बुद्धि और अहंकार कर्णानाम पंच वायवो जीवन वृत्ति है पांच जो वायु यही आदमी की जीवन वृत्ति है अंताकरण के धर्म है यदि ना रहे तो आदमी चला जाएगा तदभावी भावात जब ये हमारे पांचों रहते हैं अंताकरण सदभावे अंताकरण रहता है तो जीवित शरीर रहता है यदि अंताकरण चला जाएगा तो जीवित शरीर नहीं रहेगा इसका मतलब है इनका इनके साथ संबंध है वही अन्ना व्यतिरिक सिद्ध कर रहे हैं तदभावे यहाँ का अंताकरण सदभावे किम तदभावात वो रहते हैं और अंताकरण के अभाव होने पर ये सब उड़ के चले जाते हैं इसका मतलब है यह अंताकरण का बुद्धि का मन और अहंकार में रहने वाला एक साधारण धर्म है जीवन वृत्ति पंचवायु पंच प्राण तदभावे चाभावात अब एक एक का लक्षण कहने हृदय कंठे प्राणा गुदे अपाना तर संदर्भ नहीं है चलिए तत्र प्राणा क्या चीज है तो प्राण का यहां सब कल बता रहे कहाँ कौन रहता वही लिख रहे इकट्ठे करके प्राण क्या चीज है तो कह रहे प्राणो ना भी पदांगुष्ट वृत्ति ही इन्होंने दूसरे प्रकार का लक्षण किया है ये कहते हैं नासाग्र यहाँ से लगा करके हृदय में नाभि में पाद में अंगुष्ठ तक जो रहे वो क्या चीज है प्राण है क्या चीज है प्राण प्राण का लक्षण किए नासाग्र हृण नाभि पदाद अंगुष्ठ वृत्ति ही मान यहाँ रहता है प्राण कहाँ रहता है नासा के अग्रभाग से शुरू होता है अजय सामान्यतः यही कहते हैं नासा कंठे प्राण परंतु इन्होंने दूसरा पशुलक्षण कर दिया कह रहे नासाग्र से लगा करके हिरण हृदय में नाभि में पैर के अंगुष्ट यहाँ अर्थात यहाँ से लगा के यहाँ तक रहता है ये प्राण है अपान क्या चीज है लिख रहे हैं कृका का पृष्ठ पाद पायुपस्थ पार्श्व वृत्ति ही कृकम कंठम अटति व्यापनोति इति क्रिकाट क्या माना क्रिकाट क्रिक माने जो कंठ कंठ पर्यंत जो व्यापार करता है जो व्यापार करता है कहाँ तक करता है कृकम कृकम माने कंठम अटति गच्छति व्यापनोति वो हो गया क्री काटा बन गया क्या बन गया और उसके बाद टाप कर दे क्री का प्रत्यय के स्वार्थ में मैंने क्रिकट एव क्रिकटिका क्रिकट एव क्रिकटिका प्रतिष्ठम क्रिकटिका ये लिख रहे हैं क्रिकटिका माने जो कंठ पर्यंत जो व्याप्त होने वाला इसका मतलब एक हुआ क्रिकटिका दूसरा क्या है माने कंठ में रहने वाला पृष्ठ हो गया टीटी पाद हो गया पायु हो गया और उपस्थार स्व वृत्ति उपस्त्व इनमें रहने वाले का नाम क्या है सब है अपाना कौन हो ये है अपान कहाँ कहाँ रहती है उसका बड़ा सुंदर रख रहे कहाँ से कहाँ तक जाती है दूसरा दे रहा समान हृनाभि सर्व संधि वृत्ति जितना संधियां हैं जोड़ है हृदय भी रहता है नाभि में रहता है संपूर्ण संधियों में रहता है इसका नाम क्या है समान हो गया नाभि माने जितनी संधि हमारे शरीर की गांठ है इनमें रहने वाले का नाम है समान उदाना हृत कंठ तालु मूर्ध्वा भ्रू मध्य वृत्ति ही उदान कहाँ रहता है हृदय में रहता है कंठ में रहता है तालु में रहेगा मूर्धा में रहेगा भ्रू में रहेगा इनके जो भ्रू मध्य यहाँ बीच में रहने वाला भाई कौन हो गया उदान अभ्यानस्तग वृत्ति अभियान का है पूरे शरीर में इन्होंने तो एक एक स्थान स्थान बताया सबके अभियान का मतलब व्याप नोतीत व्यान समग्र शरीर में व्याप्त है जो पूरे शरीर में खून का सेलकुलर करके रखता है संचालन करता वही कौन है व्यान है इति पंच वायु ये कितनी वायु है पांच वायु है कितने वायु है पांच वायु अब आया उन्तीस हो गया इसमें गलत लिख गया तीसवा शुरू होने वाला है ना इसमें लिख गया है उसको लिख दिया रिकॉर्डिंग कर रहा है आपका महाकार्य का शुरू हो रहा है चतुर्विध करण से असाधारणी सुवृत्ति सु जो असाधारणी जो वृत्ति है मैंने किन की असाधारणी वृत्ति है अंता चतुर्विध कर्ण कौन कौन चार कर्ण हो गए तीन अंदर के और मिलाकर एक बाहर वाला तो कितना हो गए है चतुर्विद हो गए मान बाय कर्ण सहित जो अंताकरण इनके यहाँ चित्त नहीं है चित्त की चर्चा नहीं है यहाँ क्या है जिन चार कर्ण यहाँ कहने का मतलब एक बाहर का मतलब इंद्री और मन बुद्धि और अहंकार यही का नाम है चार वही चतुर्विध कर्ण से जो चार वाह कर्ण सहित जो अंताकरण तीन जो आपने कहा असाधारणीसु वृत्तिसु क्रम अक्रम प्रकार प्रकारो आहा कौन क्रम से होता है और कौन अक्रम से हो इन वृत्तियां कौन क्रम से होने वाली हैं और कौन बिना क्रम के होने वाली हैं इस विषय को यह बताना चाह रहे हैं कौन क्रम से होती है और कौन बिना क्रम के होती है उसको ये बताने जा रहे हैं कि एक साथ कौन होती है और कौन क्रम से होती बड़ा सुंदर लिखने जा रहे हैं इन वृत्तियों के भेद से चतुष्टय जो अंताकरण की वृत्ति है कोई कदाचित होती है और युगपद कोई होती है कोई एक एक काल तीन चार हो सकती हैं कोई पहले होगी कोई बाद में होगी इसी को बताने जा रहा है क्रमाक्रम माने कदाचित वृत्ति भगवती युगपद ये हो गए जो युगपद वाली है हो गई अक्रम एक साथ दस हो गए तो क्या हो गई सब क्रम पता नहीं चल रहा है और कदाचित क्रम सो जाए थे वह हो गई क्रमवती अतः क्रम अक्रम भेद से दो प्रकार की वृत्तियां उस पर लिखने जा रहे हैं युगपद चतुष्टयस्य इति प्रतीक ले रहे हैं कारिका का युगपद चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथा दृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति ही इन्होंने कहा कि जितनी वृत्ति है पहला चतुष्टयस्य युगपद वृत्ति ही एक तो इन चारों के एक साथ वृत्ति होती है युगपद माने एक कालावत युगपद माने अक्रम वृत्ति चतुष्टय से अंताकरण चतुष्ट वाय सहित अंताकरण से वृत्ति ही कदाचित युगपत मान एक काल में चारों की हो सकती है उस वृत्ति का नाम क्या अक्रम की अक्रम उसको कहेंगे अक्रम पर युगपत चतुष्टय से वृत्ति ही ऊपर से समझ लीजिए कैसी वृत्ति है अक्रमेण युगपद कदाचित वृत्ति जायते दूसरा है क्रमशः ये क्या होता है क्रमशः उत्पन्न तस्य निर्दिष्टा माने अंत चतुष्टय क्रमशः एका वृत्ति निर्दिष्टा एक वृत्ति क्या उन चारों की क्रम से भी होती है क्या होती है माने क्रमवती भी निर्दिष्टा और अक्रमवती अपि निर्दिष्टा इसे मन पहले आंख काम करेगी तब मन करेगा तब अहंकार करेगा तब बुद्धि ये क्या होगा क्रम हो गया चक्षु ने देखा फिर कहा मन ने उसका संकल्प विकल्प किया अहंकार ने अभिमान किया तो बुद्धि ने जाकर क्या कर दिया निर्णय करते यह भी एक वृत्ति इसको बोलेंगे आलोचन संकल्प अभिमान अध्यवसाय ये हुआ कर्म वाली वृत्तियां लिखने वाले दृष्टे पी अदृष्टे माने एक तो दृष्ट का मतलब वो जो बाह्य पदार्थ है ये सब दृष्ट हो गए अदृष्ट अदृष्टमान सुख आदि जो अंदर है इसलिए कह रहे भी त्रय से तद पूर्विका वृत्ति ही माने या दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो पर इनका जो तीन है त्रयस्य तद पूर्विका बाह पूर्विका वृत्ति जो बारह इंद्र सोचेगा उस पर लेकिन या दृष्टि यदा यथा यदा संत संततम संतमसांधकारे मन एकदम संततम विपाट है एक यहाँ क्या लिखा है संत आप वाले क्या लिखा है संतमसा अंधकारी संततम तमह अलग अलग मने बहुत अंधकार है यदा <clears throat> संतमसा अंधकारी विद्युत संपात मात्रात व्याघ्रम अभिमुखम अतसन्निहितम पश्यति तदा खलु अस्य आलोचन संकल्प अभिध्यान अध्यवसाया युगपद प्रादुर्भवंती बड़ा विलक्षण दृष्टान दे रहे हैं कोई व्यक्ति है अंधकार है माने एकदम घोर अंधकार है व्याप्त अथवा अंधकार संतत माने व्याप्त भी तम सब नहीं है संतत पाठ तो मतलब पूरा व्याप्त अंधकार है और ऐसे व्याप्त अंधकार में आप जा रहे हैं और एकाएक बिजली चमकी और सामने दिख गया व्याघ्र तो आपके बाहर अंदर इतने कर हैं इंद्रियां करण वो एक साथ सब काम करते हैं क्या करते हैं यहाँ देखो इन्होंने एक साथ का नैयायिक लोग कहते हैं योग गुणा गुणानाम योग पद्य असंभव योग्य जो विभुओं के विशेष गुण होते हैं एक दिन नहीं होते एक साथ नहीं होते मतलब अर्थात इन्होंने क्या कह दिया क्रम यहाँ क्या लिखना एक कालाव अच्छे दिन उत्पन्न हो गया क्या हो गया ज्ञान तो कह सकते हैं कि वहाँ एक यहाँ ज्ञान उत्पन्न हो सकता है बुद्धि और ज्ञान एक साथ दोनों नहीं हो सकते माने अरे बुद्धि और इच्छा एक साथ नहीं होंगे वो क्रम से होंगे योग विशेष गुणानाम योग पद्य संभव युगपद नहीं होते हैं एक कालावच्छेद यहाँ क्या एक साथ ज्ञान ही उत्पन्न होगा चारों का तो हो सकता है इसलिए उन्होंने लिख दिया सर्वप्रथम की जब विद्युत संपात मात्रा जो विद्युत का जो गिरी और जो उसने देखा क्या है और व्याघ्रम अभिमुख अभिमुखम अति सन्नीत एकदम सामने ही व्याघ्र दिख गया तब क्या करता है पश्चति उस समय तदा खलु अस्य पुरुषस्य आलोचनम आलोचन माने ज्ञान होगा कैसा होगा संकल्प आलोचन किन का काम है इंद्री का कुछ है तुरंत है ऐसा उनमें कोई क्रम पता नहीं चलता निर्णय करके भाग जाता तुरंत कुछ पता चलता है कि पहले उसने देखा फिर संकल्प किया जब अभिमान किया तब निर्णय कैसा होता है क्या झट दिखते ही एकदम पलायन हो जाता है इसलिए आलोचन काम किसका हो गया इंद्री का और संकल्प किसका हुआ मन अभिमान अहंकार अध्यवसाय बुद्धि एक साथ चारों काम कर चल देते हैं ये खलु अस्य आलोचन संकल्प अभि, अभिमान व्यवसाया युगपद एव प्रादुर्भवंती एक कालावच्छेदेन सबके सब हो जाते हैं माने जितनी वृत्ति योगपद वाय वृत्ति नापी युगपद से वही लिखने जा संभवात अतः एवं ततस्त उत्प्लुत्य तत्स्थानात एक पदे अपसरती तुरंत जो देखा है तुरंत उछल के दूसरे स्थान में भग जाता है इसे लेकर आए ततः वहां से उत्प्लुत्य माने उछल करके तद स्थानात एक पदे अपसरती उस एक पद पीछे लौट जाता तुरंत आदमी मजा मतलब आता है एक पद का मतलब भगने लगता है माने तद स्थानात एक पदे अपसरत एक पर पीछे हट जाता है इसका मतलब यहाँ वृत्ति क्या हुई एक दिन युगपत ही हो गई यथा क्रम नयन मनो अहंकार बुद्धि नाम व्यापारा इसने लिख दिया युगपद प्रादुर्भवंती माने आप यद्यपि और लोक में क्या होता पहले आलोचन होगा फिर क्या होगा संकल्प होगा फिर अभिमान होगा तब अध्यवसाय यहाँ क्या हो जा रहा है एक कालन ही सब हो गया और झटित वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में भगने लगता है माने ज्ञान पंचकम पूरा का पूरा यहाँ हो जाता है क्रमश उदाहरण ये हो गया अक्रम का उदाहरण क्रमश का उदाहरण देना यदा मंदालोके प्रथमम तावद वस्तुमात्र सम्यक आलोचित थोड़ा थोड़ा अंधकार हाँ कुछ है कुछ है इसको बोलते हैं मंदा लोक वहां था तो भयंकर अंधकार और बिजली का एक चमकी थी यहाँ क्या है ना अधिक प्रकाश है ना अधिक अंधकार है मंदा अंधकार है थोड़ा थोड़ा सायंकाल का समय ऐसी स्थिति में यदा मंदालोके मन हल्का सा प्रकाश है प्रथमम तावत वस्तु सम्मुग्धम आलोचित मन विशेष विशेषण शून्य कुछ है ऐसा पहले वो नेत्र से आलोचित देखता है ततः प्रणहित मना फिर उसमें मन जब टकराता है क्या हो जाता है क्योंकि मन इनके यहाँ ही बाहर जाता है जैसे वेदांत में है ना तडागा निर्गृत्य कुल्यात्मना बोलो हाँ मतलब? भविष्य नहीं कालाराण प्रवेश चतुष्टय जैसा होगा चतुष्टय त्रिकोणम परिणमते तथा इंद्रिया निर्गत मन घटपटाधिकारेण परिणमते वही कहने चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या युगपत उपलब्धि मात्रम होता है अब इन्होंने कह दिया कि यहाँ एवं मन इनके यहाँ भी मध्यम परिमाण क्यों पैदा होता जो पैदा होती वस्तु वह स्थूल कुछ होती है इसलिए युगपद अनेक अधिष्ठित होकर के वह जाएगा लक्ष्य देश वही लिखने जा रहे हैं के प्रथमम तावत वस्तु मात्र सम्मुग्धम आलोचित इंद्री जो इंद्री है वह वस्तु मात्र का पहले आलोचन करेगा फिर क्या करेगा प्रणहित मन वहां जब एकाग्र जो मन रहेगा तब होना चाहिए ऐसा नहीं कि मन कहीं हो वो कहीं तब नहीं काम होगा इसलिए प्रणहित मन एकदम समाहित जो मन करणांताकृष्ट सर ससर सिंजित मंडली कृत को दंड प्रचंड तरा पाटचरोयम निश्चुरूति को इसे चोरोड़ के लिए बता रहे इतना विशेषण कैसा है तो कहने जा रहा है कर्णांताकृष्ट मैंने उसके कान पर्यंत यथा मैंने आकृष्ट माता नितम मन एकदम आता नितम फैला दिया है कहां तक ऐसा एकदम कंड तक ऐसे लिया कहना चाह रहा है क्या क्या कहने जा रहा है पहले देखें कर्णांत मैंने कर्ण पर्यंत खींचा हुआ है आकृष्ट ससर माने तर मने हुआ जो बाण वह ससर सिंजित मंडली कृतकूत दंडा मैंने करणांत आकृष्ट कर लिया है और क्या किया है उस ससर सिंचितम आरोपितम मैंने उस बाण में धनुष को रख लिया है किसमें रख लिया है बाण धनुष के ऊपर रख करके खींच लिया है कान तक कहां तक खींच लिया है कर्ण पर्यंतम कर्णांतम आकृष्टम तथा ससर ससर शर्मा ने वह बाण उससे सिंजितम मान उसको ससर रख दिया है किसमें अर्थात धनुष बाण चढ़ा लिया है ससर संजितम आरोपित बाण मान उसमें बाण कर रख करके क्या कहना जा रहा है अव्यक्त शब्द बच्चा ससन और उसमें अव्यक्त शब्द कुछ हो रहा है कर्णांत कृष्टम ससर संजितंचा मंडलीकृतम एकदम टेढ़ा हो जाता है ना मंडलीकृत जब खींचेगा तो वह ऐसा टेढ़ा हो जाए मंडलीकृत हो जाए गोला गोला इसलिए कहा मंडलीकृतम दंडम धेनु को दंड अर्थ कर दिया धनु कोदंड कर रहे हैं धनु माने उसने माने बाण को रख करके कर्ण पर्यंत खींचते हुए अब मंडली कार कौन हो चुका है धनुष हो गया है जिस व्यक्ति का वह व्यक्ति कैसा है पाटचरा माने तस्करा पाटज माने चूर तस्कर तो आपको मारी दे रहा मान कितना लंबा विशेषण करणांता कृष्ट सर सिंजित कृत को दंड प्रचंड तारा भयंकर सामान्य नहीं दिख रहा भय के उलटे जाओगे ऐसा प्रचंड तरह का बर देते पाटचरोयम तस्करा निश्चनोती मन उसका निर्णय करता है अथ माम प्रतीति और निश्चय किया ये मेरी तरफ आ रहा है ये अभिमान किया अथ अध्यवश्यति अपसरा अपसरम इतः इस स्थान से मुझे क्या करना चाहिए अब भगना चाहिए ये क्या करता है निर्णय करता है पहले आलोचन किया आलोचन करके उसने विकल्प कैसा है भैया ये क्योंकि दिख रहा है इसने जो चढ़ाया इसका मतलब आदमी है ये स्थाणु नहीं है भाव कहना चाह रहा है स्थाणु नहीं है क्या चीज है जब मन ने विचार के करणांत आकर ससर संजित मंडली के तो कोदंड है और प्रचंड तर यह क्या चोर है ऐसा निश्चय जो ही किया बकर निषेध मने संकल्पयति संकल्प किया अत माम प्रत्येति ये मेरी तरफ ही आ रहा है ऐसा उसके मन में अभिमान हुआ तुरंत क्या किया उसने अत अध्यवसती अपसरामी इत स्थानात इस स्थान से मुझे क्या करना चाहिए भगना चाहिए ये क्रम से हुआ ये क्या हो गया यह क्रम से हो गया बताने पहले उसने देखा आलोचन किया फिर मन ने क्या किया निश्चय मतलब विकल्प किया फिर उसके बाद अभिमान किया फिर निर्णय किया कि यहाँ से हमको भग जाना चाहिए चोर मार मूर देगा ये हो गया प्रत्यक्ष वाले में ये कहाँ का है प्रत्यक्ष अब परोक्ष वाला बताने जा रहा है पर्वतो वन्यमान धूमात वाला बता रहा है कौन सा ज्ञान है परोक्ष जहाँ हमारा इंद्री काम नहीं कर रही परोक्षे तो अंताकरण त्रयस्य परोक्ष में अंदर वाले तीन काम करते हैं बार वाला नहीं करता अंदर वाले तीन करते हैं बार वाला बार कौन मन इंद्रिया काम नहीं कर इंद्री काम कर दिया तो प्रत्यक्ष हो जाएगा ले रहे हैं परोक्षे तो अंताकरणत्रयस्य बा इंद्री वर्जम वृत्ति माने जो अंदर है बा इंद्री वर्जम बा इंद्री से रहित बा इंद्रियों को हटा करके तीन अंताकरण ही परोक्ष में काम करते हैं अतः अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति ये लेखा अदृष्ट माने अनमी है जो हम दृष्ट नहीं है उनमें त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति ही माने तीन की ही वृत्ति होती है वह युगपद भी हो सकती है वही कहने जा रहा तत्पूर्व माने युगपद का वृत्ति अंताकरण त्रय से युगपद हो अथवा क्रमेण चा वृत्ति दृष्ट पूर्व का जैसे दृष्ट था प्रत्यक्ष में जैसे हमने देखा था प्रत्यक्ष में दो देखे थे युगपद भी देखे थे और क्रम से भी युगपद कहाँ देखे एक साथ सिंह को देखते हैं अरे सिंह क्यों देखते हैं जब हम गए अंधकार में वहां बिजली चमकी तब सिंह को देखे तब हमारा हुआ और बाय वाला कौन हुआ बंधा अंधकार में गए तो वहां पर क्या किया कुछ है आलोचना हुई फिर उसके बाद क्या हुआ का तस्कर देखा करणांता कृष्ण धनुष लिए खड़ा है कोदंड और क्या है प्रचंड तर है ऐसे उसको कहा ये कौन है चोर ऐसे निश्चय किया मैंने संकल्प ये थी उसके बाद क्या हुआ माम प्रीति मेरी पास आ रहा है ऐसा उसको तो अभिमान हुआ और तुरंत क्या किया देवस्यति इता स्थान अपसरामी ऐसे स्थान ये क्रम वाला है तो ये कह रहा जैसे वहां होता है वैसे यहाँ भी होता है तत्पूर्विका कुत्र क्रम पूर्वक वृत्ति होती है और कुत्रचित युगपद अक्रम पूर्वक वही लेखन है अदृष्टि त्रयस्य तदपूर्विका वृत्ति अंताकरण त्रयस्य युगपद क्रमेण चा वृत्ति दृष्ट पूर्विका जैसे दृष्ट में देखी गई है वृत्ति वैसे यहाँ भी लगाना है अनुमान आगम स्मृत कहाँ विषय नहीं रहता अनुमान में दिखता नहीं है विषय आगम में भी नहीं दिखता है और स्मरण में भी यही होगा तत्पूर्वी का इति परोक्षे अर्थी दर्शन पूर्वा प्रवर्तनते मैंने परोक्ष अर्थ में कब जो पहले हमने कहीं देखा है तभी हम परोक्ष में धुआं कहीं बन्नी के साथ देखे तो व्याप्ति ग्रह कहाँ किए थे मानस में व्याप्ति ग्रह किए थे पाकशाला में इसलिए वहां धुआं देख करके चला गया वैसे पहले नहीं देखे होते तो हजारों धुआं देखे अग्नि को हम लोग नहीं समझे ज्ञान ही नहीं हमको इसलिए कह रहे हैं परोक्षे अर्थे दर्शन पूर्वाह प्रवर्तनते मान जितना भी होता है परोक्ष ज्ञान में पहले दर्शन मान व्याप्ति पूर्वाह प्रवर्तनते व्याप्ति पूर्वक ही व्यक्ति चलता है आगे नान्य था यथा दृष्टि तथा अदृष्टे जैसे दृष्टि में तथा पूर्वक है क्रम पूर्वक अक्रम उसी प्रकार अदृष्टि में है इति योजना योजना माने अन्वय ठीक समझ